श्रीहरि श्रीमद्भागवत की आरती आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी तुम हो सधि हरि चरित गान की भारतीय पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास में मोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की